राग बिहाग दोस्तों आप सुन रहे थे ताज शहनाई पे बहुत बहुत धन्यवाद इनका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही अच्छा बजाया इन्होंने गुरबख्श सिंह जी का और कृपाल सिंह जी और नरेंद्र पाल सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों गुरुदेव सिंह और सुनाज एकेडमी का हमें धन्यवाद करना चाहिए जो इस देश में संगीत की क्षमा रोशन किए हुए हैं सदगुरु जगजीत सिंह जी महाराज की प्रेरणा से ये काम हो रहा है और हम सब बधाई के पात्र हैं और मैं देख रहा हूँ कि आज ना सिर्फ संगीत का अच्छा कार्यक्रम चल रहा है बल्कि सुनने वाले बड़े बड़े सुरीले लोग बैठे हैं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अकबर के दरबार में जो ना सब बैठे हैं दरबारी बड़े गौर से तान सैन के प्रतिरूप देख रहे हैं तो दोस्तों अगली आइटम हम पेश करते हैं आपके सामने और बहुत अच्छी आइटम्स आने वाली हैं आपके सामने मैं आपको पहले बता दूं आप जानते हैं गंडेजा ब्रदर्स आने वाले हैं जो ध्रुपद पेश करेंगे बहुत ही प्यारे अंदाज में और नीना दिलशाद खां बेगम और प्रवीण सुल्ताना उनकी गुरमाई है वो भी आएंगी आप सुन के हैरान हो जाएंगे बहुत अच्छी आइटम और गुरुदेव सिंह खुद सुरोद वादन पेश करेंगे तो अगली आइटम है साज संगीत के बाद गायकी का कार्यक्रम पवनजीत कौर राग देश आपके सामने पेश करेंगी और तबले पे संगत करेंगे गुरुदेव सिंह जी सग्गू तो आइए जी तशरीफ लाएं इनका स्वागत कीजिए हरभजन सिंह की सुपुत्री हैं इन्हीं की तरह बहुत ही सुरीली हैं हमारे भजन सिंह के लिए भी तालियां बजा दीजिए कि अच्छी तालीम दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया तो आइए पवनजीत से राग देश सुने